प्रणवे चेत प्रणव ब्रह्म निर्भय प्रणवे नित्ययुक्त न भयम विद्यते क्वचित इतना ही काम करना है आपको कैसे करना पूछा ना ऐसे करो कैसे करो अरे अपना चित्त है ना तुम्हारी इसको तुम कहाँ लगाओ प्रणव में लगा देना बस तो जगत मत लगा जगत में किसी भी विषय में चित्त को नहीं लगाना प्रणव में ही अपना चित्त को लगा दो वो अपने आप काम हो जाएगा जैसे आप चाह करके ट्रेन में बैठ जाइए बस इतना ही तो आपको काम करना है ट्रेन आपको चलाने दो है चलाने वाला चलाएगा और आप अपना पहुंच जाएंगे मुंबई जहाँ भी जा रहे वहाँ पहुंच जाएंगे भी पहुंच जाएंगे नहीं इतना तो हमें काम तो करना पड़ेगा भाई ये तो है नहीं कि ट्रेन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा तुमको वहां जाना पड़ेगा ट्रेन में बैठना पड़ेगा ट्रेन चढ़ना तो पड़ेगा ही उड़ेगा पहुंचा देगा वो करेगा कोई और इसलिए हमारा काम क्या है हम अपने चित्त को प्रणव में डाल देनी हमारा काम चित्त को प्रणव में लगाना ये हमारा कार्य ये हम कर सकते कुछ रखना परसों बाद में करना कुछ बाकी है क्या अरे बाद में करना कुछ नहीं पहले करना बाकी है पहले क्या करो वही बता बाद में करना कुछ नहीं है करना है पहले क्या करनी है वो चित्त को प्रणव में लगाना इतना काम करोगे तो अपने आप हो जाएगा बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा क्यों क्योंकि प्रणवी तो ब्रह्म है और ब्रह्म क्या है अभय है तो अभय स्वर्ग प्राप्त करेंगे प्रणवी नित्य युक्त इसलिए जो प्रणव में नित्य युक्त होता है वह व्यक्ति के प्रति भयम न विद्य क्वचित विद्या न विभेद कुतश्चना कहा ना तैत्र न भयम उसके लिए भय नाम का चीज क्वचित भी न दे कहीं भी किसी प्रकार के विषय में भी उसको भय नाम का चीज नहीं होगा अगर द्वैत ही आ गया तो भय का होना द्वैत रहेगा तब ना भय होगा द्वैत ही खत्म हो गया तो भय नहीं रहेगा युंजीता हमने समाज ध्यान यथा आख्या थे परमार्थ रूप प्रणवे चेतो मना ने समाधान कर डालो किसमें जिस प्रकार से अनेक सादृश्यताओं से कथन किया गया उस परमार्थ स्वरूपता प्रणव में अपना चित्त को अर्थात मन को समाधान कर दो उसके लिए सारे पापड़ दलने पड़ते हैं हाँ, मन का भी समाधान कैसा हो प्रश्न उठेगा तो अरे तो बताया पहले यज्ञ ने दान तपसा तो नाश ना सारे करो मंदाधिकारी हो तो फिर और नीचे उतरो वो कैसे होगा फिर पढ़ो मीमांसा वेद वगैरह पढ़ो यज्ञ कैसे करूंगा कहेगा ना तो कहेंगे चलो फिर वेद पढ़ो धीरे धीरे जैसा जैसा अधिकारी होता है उसको नीचे नीचे आते रहना पड़ता है जैसे कहा देते हैं समाधि लगाओ निर्विकल्प समाधि में चले जाओ तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा वो कहे हमारा निर्विकल समाधि कैसे लगाए तो बताना पड़ता है ऐसे ऐसे करना पड़ा अच्छा ध्यान करना पड़ेगा समाधि लगाने और नहीं तो कैसे होएगा समाधि भाई ध्यान तो करना पड़ेगा तो ध्यान कैसे होगा धारणा करनी पड़ेगी धारणा कैसी होगी तो प्रत्याहार करो ये क्या होता है तो इंद्रियों को अंदर लाना पड़ता है इंद्रियों को अंदर कैसे लाऊंगा ये भी पता नहीं तो फिर प्राणायाम करो अर्थ करते करते करते उसको यम नियम में लाना ही पड़ता है प्राणायाम कैसे तो होगा तो उसके लिए आसन चेक करना पड़ेगा तया प्राणायाम बोला नहीं तो प्राणायाम तो होगा नहीं बैठे यू करते रहेगा तो क्या प्राणायाम करेगा वो हिलते तो ही रह रहा है तो बेचारा अब बैठे ही नहीं जा रहा कहीं पार दर्द हो रहा है यू कर रहा है तो यू फिर कर रहा है तो कैसे चलेगा तयात इसलिए कहा है अरे आसन में आराम से बैठ कर भी घंटा दो घंटा बैठने का दम रखा है वही तो करेगा अब यहाँ तो दस दस मिनट पैर बदल ले जा रहे हैं तो कैसे प्राणायाम कर पाएगा वो लाभ नहीं उठा सकता प्राणायाम का कर दिया तो प्राणायाम कैसे करने तो आसन करना पड़ेगा ना भाई आसन कैसा होगा उसको तो युक्त आहार विहार से करना पड़ेगा भाई और कोई रास्ता नहीं आहार विहार सब युक्त करो यम नियम लागू कर दो तो यम नियम में भी करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य ध्यान रखना वही वहीं से विदेशियों का हालत खराब हो जाता है विदेशियों को वैसे बताते तो, तो लाते ना तो यम नियम में क्या क्या पूछते हैं वो वो सब बताते कैसा ब्रह्मचर्य कहते तो महाराज ये कैसा होगा ये कैसा होगा कैसा होगा क्या लंगोटी बांधो और करना क्या है <laughs> कसो लंगोटी कौन सी बड़ी बात है जाओ छोकरियों के पास दूर रहो अरे लोग उसके न रहेंगे कैसे वो जी ही नहीं सकते वो लोग बेचारे बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए वहां क्यों लोग कहते फिर तो हमसे योगा होगा नहीं जन्म मुक्ति तो होगी नहीं हम क्या करें तो मैं कहता हूँ जितना होगा उतना करते रहो कोई बात है घटाओ तो सही डेली नहीं वीकली वंस वीकली नहीं फिर मंथली वंस ऐसा करो घटाते और क्या कर सकते अब रोज तुम सोते हो रोज तुम गलत सीनरी देखते हो है कि नहीं अब जो घटाओ ना रोज मत देखो ये नियम बनाओ पहले रोज मत देखो रोज मत सो हफ्ता में एक दिन सोऊंगा हफ्ता में एक दिन गलत छीनरी को देखो हाँ, पेपर में भी हफ्ता में एक ही दिन आता है इसीलिए रोज आता है क्या नहीं आता अखबार में भी हफ्ता में एक ही दिन दिया जाता है ये समझा रहे आपको तुम रोज मत देखा करो और फिर भी तुम रोज देखो देखने के लिए अलग अलग मैगजीन खरीदोगे तुम्हारी बुद्धि खराब है नहीं तो इसीलिए नियम यही होता है कि भाई एक साथ नहीं हो सकता आप धीरे धीरे घटाओ घटाओ घटाओ घटते घटते घटते सामर्थ्य आ जाएगा फिर उसके बिना भी तुम जी सकोगे इसी जन्म अभ्यास यदि हो जाएगी तो अगला जन्म तुम्हारा आपका सीधा संग्रह में पहुंच जाओगे दिक्कत नहीं होगी तब वो कदा ये बहुत बढ़िया तरीका हाँ बस यही करो तब उनके दिमाग में संतोष होता है कि नहीं हम भी योग्य योग्य हैं हम भी योग का अभ्यास कर सकेंगे तो इसी तरह से यहाँ भी करेंगे अपराध में समाधान कर दो और कैसे होगा तो वो भी आएगा ना फिर ऐसे घटते जाओ घटते जाओ चाहते रहना नहीं तत्र सदा कहते हैं कि परमात्मा कर दिया यशमात क्यों ऐसा करूं कहते जिसलिए जो प्रणव है ना वही ब्रह्म है वही निर्भय है ब्रह्म निर्भय नहीं तो तत्र सदा युक्त से भयम क्वचित क्योंकि ऐसे उस प्रणव रूपी ब्रह्म में निर्भय तत्व में जो सदा युक्त चित्त वाला जो होगा उसको तो भयम न विदित क्वचित कहीं भी किसी विषय में भी उसका भय नहीं होता क्या प्रमाण है विद्वत कहते हैं कि भाई तीनों अधिकारियों के लिए जो मंत्रों में कहा हुआ साधना है उसका वर्णन कर दिया ओंकारम पार्श्व विद्या पादा मात्रा न संशय ओंकारम पार्श्व ज्ञापता न किंचित उत्तम अधिकारी के लिए अभिधान अभिधेय का भेद करता व्याख्या हो गया उसने मध्यम और मंद अधिकारियों के लिए कहा युंजित प्रणवे चेता प्रणव ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्ययुक्त न भयम विद्यते क्वचित ये मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए सुगुण साकार की उपासना करने कहा आप चित्त में जो है ना उस चित्त को प्रणव में नियुक्त कर दो सगुण साकार प्रणव को स्व से भिन्न करता हुआ उसमें ध्येय ध्यान रूपेण ध्यान आकार में वृत्ति बनाने के लिए कथन कर रहे हैं जहाँ त्रिपुटी रहता है ध्येय है प्रणव ध्याता स्वयं और ध्यान रूपी क्रिया होती है तो त्रिपुटी से संपन्न सगुण साकार विद्या को यहाँ पर मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए कहा उसी में भी और विभाजन करना जरूरी है मंद और मध्यम दोनों एक ही चीज को नहीं कर सकते ना जब मध्यम अधिकारी की क्षमता है मंद अधिकार के बराबर थोड़े होगा फिर मंद और मध्यम भेद कैसे इसीलिए उसमें भी अंतर करेंगे तो प्रणव ही परम ब्रह्म प्रणवश्चा परा स्मृत अपूर्व अनंद्र बाह्यो अनपर प्रणव सबसे पहले मंदाधिकारी कहते प्रणव ही अपरम ब्रह्म मंदाधिकारी लिए प्रणव से क्या लेना अपर ब्रह्म को लेना पड़ेगा सवनो साकार जो है कार्यात्म ब्रह्म को लेना कार्य ब्रह्म ही ध्येय है मंदाधिकारी द्वारा चाहे विराट को हो चाहे वो हिरण्य गर्भ का हो उसी को ध्यान करना पड़ेगा विराट हिरण्य गर्भ का जो ध्यान करने वाला वो मंदाधिकारी है और मध्यमाधिकारी प्रणवश्चपर स्मृत वो कारण ब्रह्म मायावचन चेतन ईश्वर का उपासना करने वाला होगा अभी श्रवण का ही कर रहा है श्रवण श्रेष्ठ है ना ईश्वर का कारण कारणात्मक ब्रह्म को कर रहा है और कारण ब्रह्म का उपासक मध्यम अधिकारी हो गया और कार्य ब्रह्म का उपासक मंदाधिकारी हो गया और उत्तम अधिकारी जो कार्य कारण भाव से परे है अपूर्व अनपरहा अपूर्व मैंने कारण भाव से रहित तो अनापराम है अपर से रहित अर्थ कार्य भाव से रहित कार्य का भाव से रहित का मतलब स्वगत भेद से शून्य मिट्टी घड़ा हो गया स्वगत भेद है मिट्टी का घड़ा होना स्वगत भेद हो गया उसके अवय है यदि अवय बना हो तो कार्यकारण भाव कहां से आएगा निरवय में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता सवय में ही होता है सावय का ही स्वगत भेद माना जाएगा और कहते आनंद अनंतर से कह दिया भाई सुजातीय भेद भी नहीं घट से घटांतर के साथ क्या होता है सुजातीय भेद वो भी नहीं अबाह मन विजात ये भेद भी नहीं है घट और पट क्या है सर विजात भिन्न है तो आदर्श भेद वाला कोई दूसरा आत्मा भी नहीं है सुजात या आत्मांतर भी नहीं है विजात या आत्मांतर भी नहीं है स्वगत आत्म भेद भी नहीं होने के कारण से एक में अद्वितीय आत्मा ही प्रणव है प्रणव है वही अव्यय प्रणव अव्यय अर्थात अतः वो क्या है सगल प्रकार के कार्य का परिच्छेदक जो कुछ भी है सगल परिच्छेद शून्य होने के नाते वो अव्यय है ऐसा प्रणव ही उत्तम अधिकारी के द्वारा अनुभूयमान होता है इस तरह से तीनों अधिकारियों का विषय जो विचार हो चुके हैं आगम प्रकरण में उसको संक्षिप्त कथन करते जा रहे हैं भाष्यकार परापर ब्रह्मणि प्रणव परमार्थ परमार्थतः परापर ब्रह्म स्वरूप प्रणव ही है टीकाकार बहुत स्पष्ट कहते हैं कीदृश स्तरीय प्रणव मंदारम मध्यमान अधिकारण ध्येय भवती की आशंका मंदा मध्यम अधिकारियों के अंदर उदा ब्रह्म कैसा है वो प्रणव किस प्रकार के प्रणव को लेकर के वह उपासना करेगा तो उसी को समझाने के लिए प्रणव ही परम ब्रह्म इत्यादि करेगा आरंभ हुई है क्षीणेश मात्रा पादेश पर आत्मा ब्रह्म न पूर्व कारण स्वीकृत पूर्व संजय में कार्य भाष्य में तो विस्तार नहीं कर रहे क्योंकि कारिका में स्पष्ट है बात इसे कहते परापर ब्रह्मणी प्रणवा परमार्थता इन्हीं को परमार्थ मंद बुद्धि वाला क्या मानता है ये कारण ब्रह्म ही कार्य ब्रह्म ही परमार्थ दृष्टिया सत्य है ऐसे मन की उपासना कर रहा है विष्णु ही सत्य है राम ही सत्य है कृष्ण ही सत्य है ऐसे मान के चलता हो भी सगुण साकार को ये सब क्या है अपर ब्रह्म का उपासक है अपर तक प्रणव के उपासक है जितने भी ये सब परिच्छिन्न भाव वालों को आप लेकर के चल रहे हैं बहुत सारी उपासनाएं अपर ब्रह्म की उपासना है और मंदाधिकारी के द्वारा किए जाने वाले उपासना उससे भी मंदाधिकारियों में भी तारतम्यता है क्योंकि ये जो अपर ब्रह्म कहने से हो गया कार्य तो विराट जो कृष्ण को विराट रूप भी नहीं मानता है वो तो वासुदेव का पुत्र है राजा के साथ नाचने वाला है ऐसा ऐसा करके एकदम और परिचिन कर रही हो तो कार्य ब्रह्म नहीं माना सीता का पति राम है जो चित्रकूट द्वारा भ्रमण करते घूमता रहा ऐसे कर और भी परिचिन जो कर रहे तो कार्य ब्रह्म रूप में भी उस राम को नहीं माना उन्होंने वो तो मंदारी में अति मंदाधिकारी है वो अत्यंत मंदाधिकारी है उसे भी निकृष्ट हो जाएंगे जो मूर्ति आदि में ही मान बैठते और अन्य तो कुछ मानती उससे भी मंद हो जाएंगे जो छोटे मोटे देवताओं को लेकर चलते हैं ये मंदारी कार्य में बहुत तारतम्यता है वृष्टि छोटे मोटे देवताओं से लेकर तो विराट और हिरण्य गर्भ उपासना पर्यंत जितने भी है सब अपर प्रणव ब्रह्म रूप प्रणव का ही उपासक है अपर ब्रह्म रूपा प्रणव के अंतर्गत सारे आ गए ये भूत प्रेत उपासना जो करते यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले जितने भी सब अपर ब्रह्म के उपासक एकदम निकृष्ट कोटि के मंदाधिकारी माने जाएंगे जो विराट या हिरणगर की उपासना नहीं करते इसे कहते परमार्थ तय पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को प्रणव मान के उपासना करने वाले लोग हैं वो मंद और मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारियों के मामला कैसा होता है कहते अपूर्वम पूर्वो अनंतरो बाह्यो कुशल भाष्यकार कहते हैं क्षीणेश मात्रा पादेश उन लोगों के पाद भी सत्य है मात्रा भी सत्य है मंद मध्यमाधिकारी के लिए और जिन मंद मध्यमाधिकारियों से ऊपर उठने वाला जो पाद और मात्र का भेद करता हुआ क्षीण स्वरूप वाला मान लेता है सर्वोपाधि रहित स्वरूप को ग्रहण करने लगता है वो उसके लिए पर आत्मा ब्रह्मा शुद्ध जो आत्मा है निर्गुण निराकार जो आत्मा है वही उसके लिए प्रणव है वही उसके लिए ब्रह्म है इति न पूर्वम कारणम अस्य पूर्व मैंने कारणम न विदिते कारणम अस्य अपूर्व जिसका कोई कारण नहीं होता उसका नाम अपूर्व होता है ऐसा प्रणव रूपी ब्रह्म को उपासना करता है उत्तम अधिकारी नाच्यंतरम मैंने भिन्न जातीय विजातीय विजातीयता में भी दो प्रकार की विजातीयता है एक सजातीय विजातीयता है और एक अत्यंत विजाती होने से विजातीय था मैंने ये और वो दोनों भिन्न है ये घड़ा छोटा है घड़ा बड़ा है तो दोनों घड़ा लेकिन सजातीय होने पर भी वो विजातीय भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटा है वो बड़ा है ये दोनों बराबर भी हो तो भी ये एक है वो वो एक नहीं बोलेंगे इसको एक नंबर दे दिया आपने वो क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ये विजातीयत्व है संख्या कृत कहीं विजातीयता है कहीं परिमाण कृत विजातीयता है सजातियों में को भी विजातीय शब्द से ही कहा जाता है सुजातियों को भी विजाति शब्द ग्रहण करके भाषाकार कह रहे हैं भिन्न जातियों किंचित विदे इति यदि जिससे कोई सुजात्यांतर्गत विजातीय वस्तु भी दूसरा कोई न रहे ऐसे का नाम अनंतर होता है तथा बाह्यम मान अन्यत्र विद्यती थी अबाह्य इसे तो अन्यत्र विद्यमान है अन्य न विद्यते इस बाह्य में वही अर्थ कर रहे हैं अन्य न विद्य भिन्न विजातियम न विद्यते बात बनी ना दोनों में भिन्नत्व का निषेध हो रहा है इसलिए जो सजाति ले लो ये जो विजाति ले लो वहां कर विजाति शब्द प्रयोग कर दिया या कोई शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं यहाँ सजाति का निषेध मान लो आप व्यवस्था ऐसे करो तो बाह्यम मन अन्यथा न विद्यते अन्य कोई सजातीय नहीं अन्य कोई विजातीय नहीं कार्य कारण भाव रहित होने के नाते स्वगत भेद भी नहीं है जिसका ऐसे का नाम शुद्ध ब्रह्म है उसे वही उपास्य है वही वही जो है अनुभूय मान अनुभूति स्वरूप होता है उत्तम अधिकारी का अपर मैंने कार्यम अस्य न विद्यते अनपर सबाह्याभ्यंतर ही संदव कहने का मतलब सबाह्याभ्यंतर बाह्यता आभ्यंतरता सभी के सहित विचार करके देखा जाए वो आत्मा कैसा है वो अज है संदव घन के समान है एक रूप है है ना प्रज्ञान प्रज्ञान घन बोल एक रूप हो जाता है अब कहते हैं कि भाई ठीक है ये जो उत्तमाधिकारी है प्रणव को अपने आत्म रूपेण अनुभव कर लिया प्रत्येक आत्मा को प्रणव से अभिन्न और प्रणव को ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते प्रत्येक आत्मा ब्रह्म से अभिन्न अनुभव कर लिया अपने जीव स्वरूप को अहमेव जीवो यहाँ तक जो मैंने अपने आप जीव माना था तदेव ब्रह्म ऐसा अनुभव कर लिया वो जो अनुभव करने वाला व्यक्ति वह तुरय में अपूर्व तरंतरत्व आदि विशेषण जो कहा गया है जिस तुरय के बारे वर्णन किया जो ब्रह्म के बारे वर्णन किया उसको किस रूप से अनुभव करता है सर्वस्य प्रणव हि आदिर मध्यम अंतस्तथ एवं प्रणव जाता विष्णुते तदनंतरम वही अनुभव करता है जो कुछ भी जगत में प्राण कर शाप में क्यों ना हो पादा सामाजिकरण से भी जिस चीज का अनुभव हो रहा है इन सभी के आदि मध्य और अंत क्या है प्रणव ही है सर्वस्य आदि प्रणव सर्वस्य मध्यम प्रणव तथा च अंत प्रणव एवं प्रणव ज्ञाता इस प्रकार से प्रणव को जान करके वो क्या होता है कत तो हो जाता है प्रणव को ही प्राप्त कर लेता है विष्णु तद अनंतरम तदेव मैंने उसी प्रणव को ही अनंतरम मैंने अव्यवित पुत्र काल में ही विष्णु विशेष रूप व्याप्त होता उसी के साथ एक ही भूत हो जाता है आदि मध्यांता उत्पत्ति प्रलया आदि मध्य और अंत शब्द क्या लेना उत्पत्ति स्त्री स्थिति और प्रलय सर्वस्व माया हस्तिज सर्व मृग तुष्टि का स्वप्न आदिवत उत्पत्ति मानस्य वीरदारी प्रपंच से था माया व्यादय तथा कि जो कुछ भी जगत है ना उसी प्रकार का है जैसे माया भी बना लेता है कोई कह सकता है ना आदि मध्यांत यदि भी सर्व आदि मध्यांत प्रणय तो प्रणय भी उत्पन्न हो गया और प्रणवी मध्य में रह रहा है प्रणवी जो है तो को प्राप्त कर गया परिणाम वादी आ सकता है कोई ना कोई क्या आयु मध्यान कहने से भी परिणाम वाद हो सकता है या नहीं उस परिणाम का खंडन करने के लिए भाष्यकर पंक्ति दे रहे हैं इस श्लोक से इस कारिका से कहीं आप ये ना समझे कि वेद वेदांतों में परिणामवाद का समर्थन किया गया है वास्तविक परिणामवाद का तात्पर्य नहीं है किंतु है कैसा ये मायावी के जैसे मायावी अपने स्वरूप स्वरूप में फर्क पड़ता है क्या महावीर जैसे का तैसे रहता है और अपने सारी माया का रचना कर देता है रज्जु जैसे के वैसे ही है सर्प का परिणाम हो परिणाम सर्प का विवर्त रूप अनुभव होता है इसी प्रकार से माया हस्ती मायावी ने क्या किया माया में हाथी बना देता है और आपको दिखा देता है इन मायावी हाथी नहीं हो जाता मायावी तो वैसे तो वैसे उसने अपनी माया से हाथी को बना दिया वह मायावी का विवर्त स्वरूप है मायावी स्वयं अपने आप में परिणत नहीं हुआ हाथी के रूप में मायावी माया हस्ती और रज्जु रज्जु सर्प रज्जु को रज्जु ही रह गया लेकिन रज्जु सर्प रूप में विवर्त होकर हमें भान होता है मृग दृष्टि का जल वह जो उर्मिया है उर्मिया ही रह गई जो धूप के किरण के कारण से लहर के समान जो अनुभव में आ रहा है वो तो उर्मिया तो वैसे वैसे ही है से जल के आपकी भ्रांति होने मात्र से वह जल नहीं हो जाता ना उर्मिया जल रूप में परिणत भी नहीं हुए थे इसे कहते मृग दृष्टि का और आदिवत आप ना हाथी ना घोड़ा ना कुछ बने थे वहां आप तो आप ही हैं जैसे थे वैसे ही हैं और जैसे थे वैसे जग भी गए जिंदे ही इन्होंने आप अपने आप को गला कटावा दिया करें हमें हैं हमें आपने आपका गला किसने काट दिया आप मर गए और यहाँ जगते हैं तो क्या आपकी गला अलग रहेगी है? तो आपका परिणाम भी नहीं था वो यहाँ पे परिणाम था आप वहाँ पर गला कटाव में परिणत हो गए थे दूध दही जैसा हो गया फिर दही दूध का बन गया बनाया गया कभी फिर आप कैसे गला सही थे यहाँ पर खड़े हुए है अपने गला के भाग के सहित आप खड़े से खड़े ही यहाँ जागृत में सपनों से गला कट गया था यदि आप ही गला कटाव कर परिणत हो गए थे तो जगने के बाद आपको क्या लिखना चाहिए गला कटा हुआ ही दिखना चाहिए क्योंकि क्योंकि साथ दिख रहे हैं हम ऐसा हमारा परिणाम नहीं था ऐसा मानना पड़ेगा हम परिणत नहीं हुए थे किसी रूप में किंतु तो विवर्त था इसको मानना पड़े इसे परिणाम वाले खंडन के सब दृष्टान्त इत्यादि उत्पद्यमान सिवियदादि प्रपंच ठीक उसी प्रकार से समस्त सर्वस्व ने वियदादि प्रपंच सर्वस्व की व्याख्या ये वियदादि जो प्रपंच है वो उत्पत्ति मान इन सभी के समान माया इत्यादि के समान है समझो और यथा माया व्याधि हो जैसे वहां माया व्याधि है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा है अपरिणत माया अपरिणत होकर के अपने माया से माया हस्ती को बनाया रज्जु स्वयं अपरिणत होकर अपने ही विद्यमान आवरणभूता विद्या का तमोश के द्वारा उसने क्या उत्पन्न किया सर्व को उत्पन्न कर लिया यह मृग दृष्टि का जल में भी इसी प्रकार से मृग दृष्टि का कारण तो जल का अधिष्ठान तो जो उर्मिया है ये उर्मिया अपने स्वर्ग में विद्यमान रहते हुए स्व आवरणिकता विद्या का अंश उदा तमो अंश के द्वारा वह जल को निर्माण कर दिया उसी प्रकार स्वप्न में भी हम क्या करते हैं हम अपने आप में अलवस्त रहते ही है सोते रहते हैं फिर अपने कोई स्वरूप में अंतर न रहते हुए भी निद्रा दोष युक्त निद्रा दोष युक्त अपनी अविद्यागत वंश के द्वारा स्वप्न में जगत को निर्माण कर लेते हैं तथा तदा ये आत्मा विशुद्ध ब्रह्म भी जैसे का वैसा ही है किंतु उसमें जो आवरणात्म का जो माया है उस माया का सत्ता और रज और तमांशों के द्वारा ये त्रिगुणात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है इन वास्तव में आत्मा का परिणाम जगत नहीं है कितने बार बता चुका हूँ अभी कुछ दिन पहले वो भी पूछे थे यही बात जरूरी नहीं है कि अन्यत्र अनुभूत वस्तु को ही हम कल्पना कहीं करेंगे ये कोई जरूरत नहीं है आप हाँ, रज्जु सर्प में देखते हैं सर्प में अनुभव किया था इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ या किसी जन्म में किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा आपको हम मान लेते हैं आकाश में नीलिमा को आपने देखा अन्यत्र आकाश में नीलिमा को देखा था आपने कोई भी दार्शनिक आकाश में नील रूप क्या कोई रूप नहीं मानता कोई दार्शनिक नहीं पैदा हुआ आज तक जो आकाश में रूप कह रही करीब चौबीस घंटे में आकाश रूप दिखाई दे रहा है इस जरूरी नहीं है कि हमें अन्यत्र अनुभूत है तादृश रूप इसलिए यहाँ पर अनुभव हो रहा हो कोई जरूरी इसलिए हमने भी रज्जु में सारा वही दिखाई दे कोई जरूरी नहीं कहीं भूत चतुर दिखाई देता है कहीं कुछ दिखाई देता है कहीं डंडे के रूप में दिखाई देता है वो तो केवल इसलिए कह सब कुछ माया में है आपका संस्कार भी माया ही है आपके अंदर जो सर्प का संस्कार है वो भी माया में माया में रज्जु रूपी अधिष्ठान में माया में जो है सर्प का अध्यारोप हो गया अध्यारोप कौन कर रहा है वो करने वाला भी माया में परमार्थ दृष्टि आगे कहेंगे न बंधो ना मोक्ष परमार्थ इसलिए कहेंगे परमार्थ दृष्टि जगत है नहीं जिसके लिए है उनको समझाने के लिए करना पड़ती है अधिष्ठान है ये अध्यारोप है इसको अपवाद करो इसलिए अध्यारोप करने के लिए होना कोई जरूरी नहीं होता कई चीजें ऐसे हैं कि आपने अनुभव किया ही नहीं आज तक द्रव्य को आरोप करके चलते जैसे सामान्य तौर पर भारतीय उनके अंदर दिमाग में रहता है कि विदेशी लड़कियां मन सब वेश्या है सब बर्बाद ही होती है ये सामान्य धारणा है वास्तव में सच है क्या किसे देखा है अरे विदेश गया है नहीं वहां लड़कियां कैसे जीती देखा नहीं क्या सभी के सभी वैसे ही देख रहे हो तो विदेश में भी यही इसी तरह से गलत धारणा है विदेश में क्या समझते भारतीय में भूखे नंगे भीख मंगे ऐसे एक धारणा उनके दिमाग में फिट है ऐसे भूखे नंगे सब भीख मांगे वहाँ क्यों जो विदेशी वहां से यहाँ आता है वो यहाँ झोंपड़े की फोटो खींच के ले वहां छापता है या कोठियों में फोटो कभी नहीं छापते वहां पे यहाँ हरपति का कोठी का फोटो ले जाना दिखाओ ना वहां में विदेश में नहीं वो दिखाएंगे स्वर घूम रहा है स्वर सड़क में टट्टी करा है तो उसको फोटो खींच वो गाय चल रही सड़क में वो खींचेगा अरे वो वो सड़क खींचो ना वहां जाकर के भारत के अंदर भी वैसे भी तो सड़क है यहाँ गाय चल नहीं सकती राजभवन के सामने खड़े हो जाओ वहाँ इंडिया गेट का निकालो ना सड़क की वहां दिखा दो गाय नहीं वो यहाँ का दिखा दे भारत को बदनाम करेंगे वैसे भारतीय भी कम नहीं वो आगे नंगी औरतों को फोटो छाप देंगे बदनाम करेंगे वहाँ सारी औरतें ऐसी होती है शायद दुनिया ही ऐसा है लेकिन किसी ने किसी को सच्चे में देखा ही नहीं नहीं यहाँ के चीज को वहाँ के लोगों ने सच्चाई में देखा ना वहाँ के लोगों ने यहाँ के सच्चाई को देखा है मतलब जो जो भी अखबारों में आ गया खबरों में इधर उधर आ गया उसी के आधार पर चल रहे नाथ रहे अपनी अपनी धारणा लिए हुए जो भारतीय आ गया उसको देखते हुए कहेंगे भी ये भी भिग मंगा है जो भी साधु चला जाए ये सोचेंगे अरे पांच डॉलर दे दो बहुत खुश हो जाएगा क्या है दस डॉलर में खरीद लो महात्मा को विदेश में ऐसे ही है बहुत बड़ा महात्मा मैंने क्या हजार डॉलर बिक जाएगा साधु जितना बड़ा महात्मा लो चिन्मय आनंद लो चाहे सत्यानंद लो चाहे दयानंद लो चाहे शिवानंद लो चाहे परमानंद हो चाहे कोई आनंद हो वहां जाए हजार डॉलर में बिक जाते हैं जो हजार डॉलर चढ़ा दिया वो सेठ का पीछे पीछे पीछे पीछे क्या है क्या साधु बने समझ में नहीं अब उस चक्कर में भी है सब साधु को बदनाम कर दिया कोई भी साधु जाए उसको भी यही सोचेंगे हो ये भी हजार सौ पांच सौ में बिकने वाला है ये भी ऐसी भीख मंगा पैसे के लिए इधर आया हुआ है इसको धर्म प्रचार से मतलब नहीं योग सिखाने से मतलब नहीं ये भी आया है केवल ठन ठन के धारणा डाल दिया और हाँ, तुम कौन सी खेती का मूली है, है? तुम भी इसलिए ही आए हो ऐसा कहते ये जो सामान्य धारणाएं होती है ना यह वास्तविक होना कोई जरूरी नहीं होता और आरोप करते जा रहे हैं सब पर अध्यारोप हो रहा है अपवाद तब होएगा जब अनुभव में आएगा जब यथार्थ का अनुभव करते हैं तब वो रोने लग जाए क्योंकि ऐसे भी संत दुनिया में आश्चर्य करते हैं जब आप उनकी चीजों को लाथ मार दो तो पता चलेगा उन्हें भाई ये ऐसे विरक्त लोग हैं तो मानते हैं और जो मान लेता है वो उन्हीं का हो जाता है तो पीछे पीछे हटते भी नहीं बोलो इसी प्रकार बाहर से जो विदेश जाते जो वहां जा रहने लग जाते हैं वो यहाँ आना ही नहीं चाहते फिर वहीं के हो जाते हैं जो वहां देखते सोचे कुछ और ही है वहाँ कितनी ईमानदारी है कितना सब कुछ व्यवहार कितना अच्छा है यहाँ कितनी बेईमानी हर बात में ठगाई भ्रष्टाचार तो वहां का गया तो भारत वहीं का हो जाता है विदेश की आ जाता तो विदेश यही के हो जाते हैं कि जब यथार्थ अनुभव में आने लगता है तो आप फिर उससे अलग नहीं हो सकते लोक व्यवहार में भी हम अनुभव करते हैं इसी बात के यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह दिया है कि माया व्यादय इत्यादि एवं प्रणव प्रणवम आत्मा माया माया व्याद स्थानीय इधर जो प्रणव आत्मा क्या है माया व्यादि का स्थानीय मान लो उसे जान करके तब क्षणादेव तब आत्मभाव तब क्षणादेव उसी क्षण से देर नहीं लगता उसी क्षण से ही वो जो है आत्मभाव विष्णु थे वो जो प्रणव भाव है ब्रह्म भाव है आत्मभाव है उसी को वह अनुभव करने लगता है प्राप्त कर जाता है इसलिए अब कहते हैं कि भाई जब वो ऐसा अनुभव कर लिया उस उत्तमाधिकारी ने ब्रह्म विद्या प्रणव का जो अभिज्ञान करने लगता है वह सभी देश में उसी को दिखता है जैसे कबीरा गाता है अर्श से लेकर फर्श जमी तक फर्श से लेकर अर्श भरी तक जहां मैं देखा जहां मैं देखा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है ये गाया है तो वही बात कह रहे प्रणभ प्रणवम ईश्वरम विद्या सर्वस्य हृदय स्थितम सर्वव्यापिन ओंगारम मत्वा धीरो न शोचती प्रणव ही ईश्वर विद्या प्रणव को प्रणव कर वो ईश्वर मानेगा और सर्वस्य हृदय स्थितम सभी के हृदय में स्थित उस ईश्वर को मानेगा ये नहीं कि वो ईश्वर सात आसमान के ऊपर गए बैठा है स्वर्ग लोक में बैठा हुआ है या वैकुंठ लोक में गोलोक में साकेत लोक में इत्यादि संप्रदायवादियों के अनुसार नहीं है वो ईश्वर को कहा देखा है वो कहते वो ईश्वर सर्वस्व हृदय स्थितम परम ही ईश्वर विद्या सभी के हृदय में स्थित ईश्वर को जानता है जैसे भगवान ने अर्जुन ने अर्जुन के प्रति कहा हृदय से अर्जुन सर्वव्यापी ओंकार और अधिक क्या कहूँ सर्वव्यापी केवल हृदय में रहता है ऐसी बात भी नहीं ये भी ना सोचो हृदय में रहता है हाथ में नहीं पैर में नहीं बाल में नहीं नहीं कहते सरल ओंकारम सकल व्यापी ओंकार को ध्यावा मतवा धीरो न सोचती उस ऐसे आत्म तत्व का मनन करके धीर जना कभी शोक को प्राप्त नहीं करता तरद शोक आत्मते ऐसा है शोक को तर जाता है सबके के हृदय में स्थित प्रणव को ईश्वर मानता है लेकिन वह भी परिच्छन भाव है ना इससे ऊपर उठ करके जाओ परिच्छन भाव से करता है और सर्वव्यापी रूप में भी अनुभव करता है अर्थात व्यष्टि समष्ट सर्वत्र उसको वही दिखाई देता कोई दूसरा चीज ही नहीं दिखाई इसलिए जो कुछ है सो तू ही है कभी रहने का दूसरा ही नहीं वही अनंत रूपेण विवर्त होकर भाषवान मात्र ही है जिस अनेक दृष्टान वर्णन किया जिस एक बिजली है अनेक रूपेण भाषवान हो रहा है यही पर पंखा चल रहा है तो बिजली पंखा के हवा के रूप में परिणत होकर अनुभव में आ रहा है विवर्त तो होकर दिखाई दे रहा है वही बिजली ध्वनि संयंत्रण के माध्यम से ध्वनि विस्तरण करता हुआ अनुभव में आ रहा है वही बिजली ट्यूबलाइट चल रहा है तो उसमें प्रकाश के रूप में परिणत होता हुआ विवर्त होता हुआ अनुभव में आ रहा है है तो एक ही बिजली अनंत रूप धारण किया है और सर्वत्र सभी में सर्वत्र व्यापक है एक उपाधि में एक उपाधि विशेष स्थल में ट्यूबलाइट तो दिखाई नहीं देता है कहां से प्रकाश हो रहा है लेकिन बल्ब में तो और फिलामेंट दिखाई देता है लाल लाल नहीं अंदर एक रेखा ग्रह में टीडी मेढ़ी रेखा ग्रह दिखाई दे रहा है आपको और कहीं पर उपाय तो उपाय भी नहीं दिखाई दे पूरे ट्यूबलाइट में कहा है या नहीं इसलिए कहो तो हृदय में है जैसे बल्ब के अंदर है बल्ब के अंदर फिलामेंट में दिख रहा है ना वैसे ही शरीर के अंदर हृदय में वो फिलामेंट है वो आत्मा भी फिलामेंट जल रहा है और सर्वव्यापीनम तो देख लो ट्यूबलाइट में सर्वे वो बिजली दिख रहा है क्या दिक्कत दृष्टि समष्टि सर्वत्र वही है वही नाना रूपेण अनुभव में आ रहा है अनंत रूपेण वही दिख रहा है इसलिए कहते कि देखो सर्वयापिन ओंकार ऐसे उसे मनन करके जान करके अनुभव करके धीरो न सोचती धीर जो होता है वह शोक को प्राप्त नहीं होता भाष्यकार कहते हैं सर्वस्व प्राणी जात स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय समस्त प्राणी समूह का स्मरण ज्ञान का आश्रय होता है हृदय स्मरण ज्ञान का नष्टो मोह स्मृति था स्मृति का लाभ कहा होगा स्मृति का आश्रय होता कौन है हृदय है ना स्मृति प्रत्यय स्मृति रूपी ज्ञान का आस्पद मन अधिष्ठान आश्रय होता जो हृदय उस हृदय में स्थितम ईश्वरम प्रणव विद्या स्थित जो ईश्वर है वह प्रणव है ऐसा उसको जानो लेकिन वो कहने से ये ना समझे आप वो परमात्मा ठीक है वैकुंठ में नहीं है कैलाश में नहीं है कहीं भी नहीं है सबका हृदय में है सबका हृदय में है हृदय में ही रहने वाला है वो ऐसा ही परिच्छन भाव से तभी ग्रहण कर लोगे आप तभी परिचिन लोगे ना तीसरे तो कहते नहीं नहीं व्योम ओंकार सर्वव्यापिनम असंसारिनम विद्या सर्वयापिनम सर्वव्यापिनम व्योम आकाश के समान सर्वव्यापी है ओंकारम महात्मानम ओंकार रूपी आत्मा को असंसारिणम असंसार्य करके पहला स्थिति है द्वासुपर्णा सविजा सखा अर्पण अनुभव करेगा मैं जीव हूँ इसी हृदय में और मेरे साथ ईश्वर भी इसी हृदय में विराज मारे हम दोनों एक ही घोसला के दो चिड़िया हैं ऐसे वो मान के चलेगा फिर बाद समझेगा कि नहीं वास्तव में दो चिड़िया भी नहीं था भ्रांति थी हम बिंब प्रतिबिंब स्वरूप है दो कहाँ है देखने में बिंब और प्रतिबिंब दो अलग सा भान होता है इन वास्तव बिंब से अतिरिक्त प्रतिबिंब नाम कोई चीज ही नहीं है दर्पण से पूछो दर्पण कहता है मेरे अंदर कोई प्रतिबिंब नहीं है बिंब को पूछ बिंब कहते मैं तो बिंब मैं प्रतिबिंब थोड़ी हूँ फिर प्रतिबिंब कहाँ है आपके खोपड़ी में है केवल फालतू का है नहीं नहीं दर्पण के अंदर ढूंढो तो मिलेगा नहीं पहले विचार आ चुका है यदि दर्पण में मान लो एक प्रतिबिंब टिक जाए आप आज जो मान लीजिए सूट बूट पहन करके खड़े हो गए दर्पण के सामने और वो प्रतिबिंब दर्पण में स्थिर हो गया कल आप धोती कुर्ता करें खड़े हो जाइएगा तो क्या होगा और धोती कुर्ता के ऊपर पैंट शर्ट दिखेगा क्या क्यों प्रतिबिंब टिक गया अब ये धोती कुर्ता का प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं है या नहीं इसका मतलब जो टिकाऊ है ही नहीं कहीं उसको है करके कैसे मान रहे हो जब प्रतिबिंब टिकाऊ नहीं रह गया है ना दर्पण के अंदर स्थिर नहीं हो पा रहा है उस वस्तु को है करके हम कैसे स्वीकार करें और उसे कोई व्यवहार नहीं होता बड़ा आश्चर्य की बात है घाव लग गया है प्रतिबिंब में आप घाव को देख रहे हो और एंटमेंट कहा लगाओगे प्रतिबिंब पर लगाओगे लगाने की चेष्टा करो कहा वो दर्पण पर लगेगा प्रतिबिंब को भी नहीं लगा दिया क्यों वो है नहीं तो लोहा में कैसे उस पर यदि वो होता तो उस पर लग भी जाता है ना है नहीं वो फल तो दिख रहा है उसके अंदर कांच में इसलिए आप लगाओगे अपने बिंब में ही लगाओगे क्योंकि आपको ये मालूम है क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ना मेरे से अलग नहीं फिर मैं वहां लगाने की चेष्टा करूंगा तो होगा नहीं यहाँ लगाऊंगा तभी मलम लगेगा ये जानता है लेकिन फिर भी अपने आप को मानता है मेरे से प्रतिबिंब लगे इतनी तो बड़ी मूर्खता नहीं है तो तुमसे अलग है तो वहां भी घाव है चलो यहाँ अंटमेंट लगा लो यहाँ अंटमेंट लगाते वहां भी अंटमेंट लग जाता बड़ा आश्चर्य की बात ये तुमसे तो अलग था हाँ, हाँ, तो अलग रहना चाहिए ना यदि वो प्रतिबिंब तुमसे अलग है स्वतंत्र है स्वतंत्र सत्ता वाला अपने आप में स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त किया हुआ यदि है फिर आप अपने को एंटमेंट लगाने से प्रतिबिंब कैसे चिपक गया वो नहीं लगाना चाहिए आपसे भिन्न है आपसे स्वतंत्र है इधर से ईश्वर से भी भिन्न और स्वतंत्र जीव होता तब तो इसकी भी इलाज करते हैं हम नहीं करेंगे अरे बिंब का इलाज करोगे और यदि बिंब से पृथक प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब की भी इलाज करनी ही पड़ेगी यहाँ का खून बंद हो जाए वहां खून बहना बंद होना होगा यदि वो भिन्न और स्वतंत्र है तो इसी प्रकार यदि ईश्वर से भिन्न और स्वतंत्र यदि जीव होता तो हम इसका भी इलाज करते लेकिन ईश्वर से भिन्न है नहीं यथा बिंब से प्रतिबिंब भिन्न नहीं है इसे उसका कोई अब इलाज नहीं करते हो और इसके इलाज होने से उसका इलाज हो जाता है ये स्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ हो जाता है बस इसलिए ईश्वर की माया को दूर कर लो तो सारा काम हो जाएगा तुम्हारे अपने पास ना विद्या न माया है ना कुछ भी नहीं वास्तव हम तो प्रतिबिंब रूपा है ना इस बुद्धि तत्व पर पड़ा भाई प्रतिबिंब है ना किसका बिंब प्रतिबिंब है ईश्वर का प्रतिबिंब वो वास्तव में ईश्वर भी प्रतिबिंब ही है असलियत में पहुंचो तो वो ईश्वर भी प्रतिबिंब वो कहाँ पड़ा है वो माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है इसी को समझाने के लिए आपको कहा था वहां पर जल में जो आकाश अभ्याकाश पंचदशी आया ना घटावचन जल पर जो आकाश का प्रतिबिंब है वो जीव है समझो अभ्र के ऊपर जो पड़ा है वो ईश्वर है समझो इसलिए कहा गया आखिर में वो भी प्रतिबिंब ही है लेकिन शुरुआत यहाँ से तो करो ये जो अभ्र में पड़ा हुआ आकाश का प्रतिबिंब है ये जल पड़ा हुआ प्रतिबिंब से भिन्न नहीं है उसमें जो प्रतिबिंब है वही इसमें भी है इतना समझ ले शुरुआत में ही बहुत है इसे कहते शुरू में आपको यही मान के चलना पड़ेगा सभी हृदयों में स्थित उस ईश्वर को अनुभव करना पड़ेगा फिर अपने आप को हृदय विद्यमान जीव को अलग करके जो मान रहे थे अब ये निश्चय करो ये जो जीव है ना ईश्वर रूपी बिंब का प्रतिबिंब है फिर टटोल के देखो क्या वो ईश्वर में वास्तव में स्वतंत्र बिंब है फिर निश्चय करना पड़ेगा वह भी कोई स्वतंत्र बिंब नहीं, नहीं तो हजार ईश्वर हो जाएंगे समस्या देवी तो होगा क्यों हजारों हृदय है और प्रत्येक हृदय में ईश्वर अलग अलग है हाँ या नहीं मौन हो जाते हैं देखा को मौन हो गया है बोले ना हजारों ईश्वर है मानना पड़ जाएगा आपत्ति खड़ी हो जाएगी इधर आपको मानना पड़ेगा हजारों हृदय में विद्यमान ईश्वर जैसे एक है तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब एक होगा एक ही प्रतिबिंब का सर्वत्र अनुभव कर रहे हैं फिर वह प्रतिबिंब का भी बिंब कौन है वास्तविक फिर आत्मा है जरा वह आत्मा और बिंब में भी शंका हो क्या वो भी तो प्रतिबिंब नहीं है कहीं यदि ये दोनों प्रतिबिंब साबित हो गए हो सकते वो भी प्रतिबिंब साबित हो जाए कहते नहीं वो तो सर्वव्यापक है ये तो सर्व हृदय में हमने माना ना जिन जिन चीजों को परिच्छिन्न मानते जानते हो प्रतिबिंब हो जाता है और हमें जो अपरिच्छिन्न भाव में पहुंच जाओगे सब कोई प्रतिबिंब भाव हो ही नहीं सकता क्योंकि अपरिच्छिन्न का प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं और स्वयं प्रतिबिंब रूप हो नहीं सकता क्योंकि जो कुछ भी प्रतिबिंब है वह परिच्छिन्न हुआ करता है और अतएव आत्मा का जिस कारण से प्रतिबिंब नहीं होता वह प्रतिबिंब स्वरूप नहीं है वह परिच्छिन्न होने से अव्य है वह अपरिच्छिन्न इसलिए कहते हैं उसको अव्य करके समझ करके असंसारी करके समझ करके धीरो बुद्धिमान मत्वा न जो धीर है जो बुद्धिमान है वह कभी शोक नहीं करता क्यों शोक निमित्त अनुभवत है शोक का निमित्त ही ध्वस्त हो गया जब शोक का निमित्त ही नहीं रह गया फिर शोक कहाँ से होगा जैसे बार बार जो है चेतनगिरी महाराज से गृहस्थी लोग प्रश्न पूछा करते हैं महाराज दो बार इच्छा हो सकता है एक ओम भूश्याम प्रजा ये भगवान ने इच्छा किया था और बार बार इच्छा करते रहे हमारी मुक्ति होने से क्या फायदा बार बार पूछते थे अब एक बार ऐसे किसी ने कहीं सत्ता बोले बड़ा गुस्सा आया उनको इतना गुस्सा आया भाई बार बार वही बात वही बात वही बात रटे जाते हो फालतू की अरे इच्छा मर गई क्या इच्छा की माँ मर गई खत्म बात ऐसा गुस्सा में बोल दिया इच्छा की माँ मरे क्या विद्या माया ही मर गई दोबारा कहा इच्छा हो अरे दोबारा इच्छा तब होगी ना जब माया हो दोबारा इच्छा तब ना पैदा होगी जब माया हो जैसे किसी की एक बहन थी वो मर गई है हाँ? तो माँ जिंदी है तो दोबारा पैदा भी हो सकती नहीं कद बाल नहीं पैदा होगी है ना इसी प्रकार से ये अविवेक व बहन इच्छा और इसके माँ को अविद्या और अविवेक की बहन तब तक न पैदा होती जिंदी रहेगी जब तक अविवेक रहेगा अविवेक हो जाए तो अभी खुद मर गया उसकी बहन इच्छा भी मर गई अब दोबारा कोई पैदा भी ना हो तो अविद्या भी मर गई जब सब खत्म ही हो गए फिर कहाँ से उठेगा दोबारा कहा से इच्छा होनी है सवाल ही नहीं उठता इसलिए कहते हैं तरत शोक आत्मित्या श्रुतिभ्य प्रमाण यह है शोक निमित्त की उत्पत्ति नहीं है क्योंकि तरत शोक आत्मते प्रमाण छांदो की का वो अमातृनंद मात्र द्वैत शोक शोपम शिव ओंकारो विजित समुनिर्नेतरो जन कहते हैं कि देखो ओंकार भाव को जो प्राप्त हुआ है उस तो प्राप्त स्वरूप की स्तुति करते अंत में वही वास्तव में मुनि है और कोई नहीं मननाथ मुनि क्यों वही वास्तविक तत्व का मनन किया है अतः तो वही वास्तव मुनि हो सकता है कोई दूसरा नहीं स मुनि न इतरोजना वही मुनि है इतर जन नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि वो किस तत्व का चिंतन किया अमात्रो सबसे पहले उसने तो जाना